चरण सिर कर जोरी नाथन मोहि नाहीन खोरी अतिशय प्रबल देव तव मया राम राम जो दाया विषयबस्य सुर नरमुनिस्वामी लागा पार पशुकपतिकामिं नारिनयनशरजाहिनलागा निसिजो जागा श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है हे देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है क्रोधांध नहीं होता लोभ पास जही बधाया बंधाया सोनर तुम समान घुराया यह गुण साधन से नहीं हो तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई तब रघुपति बोले मुस्काए तुम प्रिय मोही भरत जी भाई अब सोई जतन करहु मन लाए जही विधि सीता कै सुधि पाए और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है हे गुण साधन से गुण साधन से नहीं प्राप्त होते आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं तब श्री रघुनाथ जी मुस्करा कर बोले हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले यही विधि हो तब तक आए बानर जो बरन सकल दिशे देखिए की सबरूथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे बानर कटक उमा में देखा जो मूरख चहले खाम चहलेखा राम पद नावहि माथा निरखी बदन सब हो सनाथाम अस कपि एकन से नामाही राम कुशल जेहि पूछी नाही यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाए विश्वरूप व्यापक रघुराए शिव जी कहते हैं हे उमा वानरों की वह सेना मैंने देखी थी उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है सब बानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कितार्थ होते हैं सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं सारे रूपों और सब स्थानों में है ठाढ़े जह तह आय सुपाए कह सुग्रीव ही समुझाए राम काज यरु मोर हो राय बानर जूथ जाहु चहुओ राम जनक सुता खो खोजहु जाए मास दिवस मह आए हु भाई अवध मेट जो बिन सुधि पाए आवहि बनहि सो मोहि मराए आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूहों यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई महीने भर में वापस आ जाना जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा बचन सुनत सब बानर जहाँ तह चले तुरंत तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा